जाल बढ़तीदे की भारत में काम यहाँ की तामा वर्णी जाल देवते की पूजा काल गया बिल्कुल बराबर बैठा और जो कुमार नेर ज्ञान के हमारे पूजा डाप जे गोदर मैंने गोदर पूजा तो डाप से गोदर तो नहीं बांध सके ए हम्म। मेरा हमें बात है तो पहलो कुमार किसो जगह बांची पर ए पहलो कुमार किसो पालू क्या बोले थे साणो पाली हम्म साणो पाली हां वो कौन है वो कुमार हो अच्छा। भगवान को ढीला करके मुंडा आके आपने श्रृंगार वास्ते वो हम्म। शानी हो बाम श्रृंगार किया करता भगवान को हाँ, घोड़ा को घोड़ा को अच्छा हाँ भी घोड़ा के मुंडा आके वो श्रृंगार वहाँ वो तो जो वो श्रृंगार हुआ और बस वो श्रृंगार जो तो आज बहुत खराब तो घोड़ा वो मुंडा गए तो अच्छा हम्म। अब वार्ता नारी भी घोड़ी छुड़ा दियो नहीं देव जी का हाँ। जी के घोड़े की क्या करते घोड़ा लीला करके हाँ वो लीला कर है हम हाँ, बोल पड़े मंजड़ो लीला कर हाँ वो मोटो लीला कर नाम लीला कर घोड़ा का नाम कहीं है लीला पूंग पूंग घोड़ा है पूंग है हम्म। घोड़ा नाम पूंग है लीला कर पूंग हम्म। घोड़िया का घोड़ा नाम नाम रहा छह महीना बारह साल हूँ बोली हूँ दिया ठाकर के ठाण क्यों छह महीना बारह साल हूँ आज हिंसी हूँ दिया ठाकर के ठाण नहीं तो हंसी कोई नहीं बाढ़ दी और घोड़ी की हो क्यों तरवा में चूरमा खाती ही दर्द भाड़ दी उड़दा की खावती ही दाल सवाई भोज के पाई का भी रेवती ही तू तो राजा हाज तो माऊ जुआर क्यों मारो राजा जुआर हाज तो एंड मिन ने देव जो मन हमें सिलाम देव तो, तू आय आय पर आज में दुख में बंदी हो जरा और घोड़ी बात की हो बाढ़ ने दुकड़िया में ठोकर मार दी रे पिता भारजी दुकड़िया ठोकर मार दी नार भारजी खाती में होलार और मांस कटे बता दे श्री सवाई भोजगो रियो मैं वंश आ कि वंश ने जी और भोजगो घटी बेटी है बाप मैं दुकड़े ठोकर जो सवाई भोज के पानी का मार दी कि था लकड़े राते बंद राग होते हैं तो मारे जो घर का भोज ने जो ले जा बटे राने जो भारत में आ रही तो कौन घोड़ी वो बाट की हो आ वार्ता एटी टोल होने था पढ़ में कौन है आ पढ़ में कौन है आवार्ता बैठ बना आवार्ता जारी है आज आज दिन की जारी है अरे बराबर आधी रात अगर शाम हो फिर आधी ना घोड़ी छूट आ गए भगवान पर दिन मारे दिया ठाकर ने मारे बजे वहाँ तो में कड़े गावला पढ़ में तो ना बजे आप आप बगल पूरी कितने बजे नारी गाँव अच्छा। आप बजे शाम का बैठ जाए ना बराबर ले घड़ी बैठ बराबर रात की एक बजे ना घोड़ी छोड़ कर आ जाए छोट आ दिया ठाकर ने बाहर आ जाए घोड़ी पर कटो आई है पहली शुरुआत वे सा बेल बहुत मतलब तो सीधी मतलब छोटी बच्चरी की नहीं छोटी बच्चरी को नहीं आ भगवान आ घोड़ी अवतार ही क्यों चाउंडा आ सवाल आपने कियो बने क्यों सवाल को बोल क्यों चाउंडा इंद्रापुर से उतरी प्रति का टुकड़ा वेगा चार पहली वेगी हीरा छोकरी दूजी रेण में वेगी तीजी वेगी सडवा ने बौड़ी घोड़ी छोटी वेगी राजकुमार राजकुमार जोगमया पातुड़ी और आपने हीरा दासी हीरा दासी मेल की बार जोग में एक चीज ही हीरा दासी अच्छा, एक ही चीज हाँ, ही हीरा दासी फिर बंगड़ी घोड़ी फिर पातुड़ी कलार फिर में चारों एक चीज तो क्यों चाउंडा इंदिरा पुरुष उतरी प्रतीका वेगा टुकड़ा चार हम्म। हाँ चाउंडा चाउंडा चाउंडा इंदिरा पुरुष उतरी प्रतीका टुकड़ा चार पहली वेगी हीरा छोकरी दूजी वेगी पातुड़ी का लाड़ तीजी वेगी बौड़ी घोड़ी छडबा ने भोज गए चौथी वेगी राजकुमार चौथी राजकुमार का वसुंधर भाई इनके वेगी लोग तो राजकुमार जो जोग माया ना हाँ जोग माया चारों एक ही चीज चारों एक ही चीज चौंडा का रूप है चारों चारों चौंडा का रूप है हम्म। चारों बोझ गिलाए हाँ चारों एक रूप अच्छा चार टुकड़ा हो गया हाँ। चार टुकड़ा चार एक जगह हाँ, तो हाँ, पड़ी है हम्म। को ढूंढो ढूंढो में में वर्णागर को ढूंढो को ढूंढो इंद्रापुर से उतरी प्रति का टुकड़ा श्यार पहली वेगी हीरा सगरी दूजी पातोड़ी कलाड़ वर्णागर को ढूंढो डूंगरी तो कितना काम है गांव तो तो से डूंगी बात डूंगी भाई जी गाल देने जग मैं बता रहे जी मैं चारों सीधा मंजड़ी अच्छा चारों चारों सीधा मंजड़ी बट गाला दर्शन करवाने मिंदर हां मिंदर मिंदर है देवरो देवरो बिंग मां घोड़ी है बिंग मैंने घोड़िया का सब हीरा का सब का लाल का में का में बाटा का बाटा का ये का ये मूर्ति मूर्ति कटे ना हो कहीं હાટ આવે ભક્તિ કઈ ઠા પડે એનું અટું આતો સીધી દેમાળી મોટર જ આવે દેમાળી ઉપર થોડી નેડી દેવે મેવાડ में કે ખારી ડાવી એકલા ગામડિયા रेण के बढ़ाई के तीन कोस को बेच लो है बढ़ाई तो बाद एक स्थान है पिल्लो दा के रेण के सिंजो बेच लो कोई मेवाड़ में नहीं नहीं कोनी हम दे खेड़ा उठ खरी डाली से नोलकी जावड़ा नोलकी रे वा नोलकी अन बाजी 9 लाख की बस्ती बीग में जरा नोलकी बाजी पछे भगवान लारो सर करी देव महाराज जरा बज बीग माते का खेत बुआ लिया पर भगवान को बेर काटियो बगड़ावता को बेर लियो आखिरी बेकुड़ जाम था अभी राणा साहब ने मार अल्पज भगवान की जोत में जोत रही गोट हम्म। गोट खेड़ा गोट उठे हमदे खेड़ा बगड़ा होता है बगड़ा होता है फिर वार का राणा जी फिर वार का सब है फगड़ा बटी बटा आशित नहीं फगड़ा बट मेवार मेवार में फगड़ा मेवार मेवार चौबीस भैया नर नर खेड़ा है आपका गांव पर ही आपको बहादुर सिंह ना हो तो बहादुर खेड़ा है तो गांव नेक जो ना हो नहीं हो गांव को नेक जो सवाई बोल रहे तो गांव सवाई पुरो को किलो को पाटन हार हो बोरा उड़े सवाई हार हो हाँ, वो जी ने बूढ़ा जी खटा बूढ़ा जी खटाना रात रात को गुजर गए साउथ नीरा जी को नाड नाड नाडड़ा नाडड़ा मास सही गाँव नाम को गुजरी नेतु नेतु भी को नाम हो नेगढ़ नानी को साउथ नीरा जी गुजरी को है नेगढ़ आवे की जात ही है नेका नेका डन नेका भरजे कंवर निया की नार जाता बनाने भरजो मती बड़ा खमद की लार डोला के ढमके निकला कर सोड़े श्रृंगार भगवत कनु घड़ा करा इंद्र के दरबार है शिवलोक का कर्जा फूकदार वैकुंठा में वास आ बा ने गार्डन आ ना नाडला होगी और के क्या नाडला होगी एंड चौबीस भैया का क्या नाम यार चौबीस भैया का वहाँ सोचने को कहते ना है चौबीस भैया का राउंड देखो तीन गांव जरा पड़े मोको वहाँ देना एक मैं लिखो आज जो मुद्दा आ जावे बाराऊ जी को बोर बोरवाड़ो धनसा जी को ફસવાઓમાં અથવા જો નામ આજ્યું ગામ આજ્યું ના આવે ચોવીસ સાંજે ગામ બટ હા હા ગામ જ્યાં ના આવે બટ અટ પૂછણ ભાઈ ગામ બટ જાર મેં કરી આ કે वो फलान गाँव पकड़ा था किसी को दियो वो फलाना फलान दियो बस थोड़ी तो सी बते एक मिल मिल की खेती रखलाई है हाँ, जो अच्छा। आपने ढाणिया जो ढाणिया पे तो बस नादार रेवता जो जो ढाणिया जो ढाणिया पे तो विराट किलो है बट भारी है सवाई बहुत बड़े बट जोग में सवाई बहुत होतो है अनुवाई को आपने जोलिया पर अल्लाह पार जोग में हर डोजे जोड़े जीव जोग में और जीता बन डोग में अल्लाह पार जोड़े भी सवाई भी बहुत डोजे कर लगे बाबर की नहीं बजे परवाना आया रे नवले रेण का आया कड़ा की जोड़ी ए माँ बीरा का खेत के मैंने बिछड़ जाए राम ने चुना ले जोड़ी बैठो जी बच्चा ने करने का चार चार एक हाँ, तो सवाई भोज के मैं दूजी हो वो किसी रानी को सवाई भोज के लुगाइयाँ दो ही एक अजमेर की आजमेरी ये अजमेर की लुगाई भी अजमेर की लुगाई की एक तो भाई दीप कंवर ही एक है जो और मेदू जी हो जरा ए जो भारत के मैंने काम आऊं ढोगा ना छोटो भाई नहीं हो जो भारत में सीजो क्यों दादा भाई अब भारत के मैंने जावा अबे जो आपने आखिरी मुद्रा ड्रामा सामा भेज जावे मैंने क्यों दादा भाई अब भारत में जावा अपना आपने नंगो ही बन रहे तो एक एक दिन जावा वाटे तो जो मैं वचन है कि एक दूध आदमी ने सीट भारत में तो चौबीस ही भैया मैंने पहल प्रथम न्यूज सीधियो छः महीने और झगड़ो कराइयो छः महीने झगड़ो करो ओ तो बिल्कुल बराबर देखो दारू सवाई बोल गयो सवाई बोल गई तो आठ बोल दो बिल्कुल बराबर सवाई बोल गई भाई दीप तुम तो रही पहुँचे तो वोट बटू निकलना आगो बारह साल ये गेड़े ना नाटन लोग हाँ जो डोग में की हो दो डोग में हेलो भाई आई नाच क्यों जा मती तेजा देर जी रेट हो जे क्यों तेजा देर जी दौड़ मती है अब माता मारे 24 लेना है तो माता 23 हुई एक माता को की को ले मैं मैंने क्यों मारे माता कौन लेना देना कोनी माता मैं तारा कोलम भेड़ो कौन वचन ही कौन दिया तने रहे जो मैं माता दऊं तने ओ है जो होला नहीं खड़काई दिया जना जो जोग में की हो तेजा जेर दी नाट भले अब तन लेबा ने मैं नहीं आऊंला आ मारे मुंडा के हीरा दास है जो हीरा गोरी लांचा बड़े तन ले जावेली जरा हीरा दास बने तेरी तेजा को तेजा दी नेर की गया 12 के महीने बाई हीरा है बाई जो मले हीरा एक ही चीज पहले तो और लेन आटे ने कियो दौड़ मती जे कियो दौड़ू काई हो जको मैं तने मातो दऊं कोनी कियो तने बचना मोनी कियो बचन में गई कोनी जोग में हेलो बड़े लानो कियो तने कुर्दुग में बुझाई दऊं तू ही डाल पर पर तो जा दो जगह जाट के में अल्लू जातो रहे उत्तराखंड में जाते तो वही ही काना लिया गाल बोर गाल तो गाल तो तो काना लिया गाल उत्तराखंड में गियो तो बढ़ जातो जातो बच्चों बन गो जलम के घर तेजो नहीं लियो दो जान घर में जो हमें ला दो वो जलम तो पकड़ा था घर में ले लीजिए को ले लियो वापस वो दो जान घर में वो तेजो वो तेजो ये कियो और बाद में बस जोर में या कि अब मैं माता किंग लो तो भाई दीप को हूँ सवाई बोली लड़की क्यों किंग ले माता बड़ी माँ क्यों बात हमारे तेईस भी हमारा तो बनी है भी दीप जो सवाई बोली लड़की अच्छा, जो आपकी कृष्ण उठा रही थी कि भाई जी आप मत ले जाओ मैं बस थाना क्यों दस भाई जी ने दीप की झगड़ी है भाई सवाई भोज की दीप पर की भजोग में भाई झगड़ी है सवाई भोज की दीप अरे मोटा मोटा हाचंगा दिया माता फोड़ तू मारियो हरवार को कालो मेर पटान मार दियो दियो ठाकर जोध को हाँ માર્યા મોટા મોટા છોટાઓ રાખ્યો ને છે ને પાર હાથ જોડ કરો બેણતી વેજ્યા બેકુંડા પૂગતી માં જો હા જોડ બધે જોગ મેં ઊંડા ખડી વેગી કયો હા જોડ બેણતી હે તને તું તો માઉ મઢી હે तो छोटी नहीं तो माओ पता नहीं बड़ी जान ली यार अब तो वैकुट जा रही मैंने क्यों भाई जी बाबू साहब मैं वैकुट नहीं जाऊँ मैं वैकुटे नहीं जाऊँ मैं दस पोर मैंने महादेव को वरदान दियो है क्यों तुम दस पोर झगड़ी जा तारा काको झगड़ियो नहीं हो काको सा झगड़ी तू झगड़ी दस पोर मेरा मारो काको अस्सी पोर झगड़ गयो और मैं दस पोर झगड़ो मेरा जोग माया बजे बा डेरू बजे डेरू बजे गयो भाई का वादा पूरा करना पड़ी डेरू बजे तो आगे जोग आपने देव गांव की तलवार बेवी ही लाल तलवार को लाडो पड़ तो हाथ में जीवता भैया था जोग माया डेरू बाज तो आ कंकाली रूप के मैंने भारत में सर्दी ले डेरू डेरू बाज तो, डेरू के बाज जो भी आदमी जीवता भैया था जरा आज जोग नहीं तो छह महीना नहीं हो जगह छह महीना वहाँ बाहर को बाहर का ताक लाई मैंने मुझसे जाऊँ बाहर गई है ना आटो बोले फौजा सर्दी तो फौजा की थोड़ी હોજણ કયો કે નેગેટિવ ઘટે રાજનાર कटे और कितो फैसलो है जरा कियो फौजा सट की नीम दे पीडीआर की वेगा ढिकला का ढेर आगले पूछेटी पूगिया नहीं आगे नेगड़े लाल जे की पिसल गई अजमेर आ विश्व नेगड़ो कटे बोलो खारी डाव वीडियो आज मेरी अटे बोल बोलो माई कोई नहीं आ जी वे नटे जरा आगे जो भारत का मैंने पता नहीं सटिया खड़ी है आ भाई पच भाई जो आठ बोल 10 बोल झगड़ी दस को जगह पानी में जोक में अंदर के ले लिया हाथ में यही ने बात को तो छोड़ है हाथा में ले लिया हाथ में जाती जी कोई है हाँ, देव कुमार भाई ने बस इतना मार्गन भेजा जाए ये बड़े महीने और बड़े महीने भाई दीप को माता हाथ भेजा है हाँ। वो भी है ना है चित्राम था कटन लाए हैं कटन लाए चित्राम चित्राम मैं तो बड़े देमाड़े ले जाओ वाले खचवार जी फोटो हाँ। वाले फोटो खचवार जी वाले मैंने जी लिया वो भी है ना हां पत्थर में कितनी मोटी मूर्ति है more than more than મોટી મોટી બનાવ મેં દેમાળી મેં દેમાળી મેં જેને દેવ ઉતાર્યો બાઈ મૂર્ત મોટે એવડીએ અને એક દેવ દરબાર ઉતાર્યો નારી દૂધ છુંગાવે બહુ છોટો ચિત્રામાં એવડો નારી દૂધ એમ છુંગાવે પડે એમ જોડે નહીં નીચે નારી ઉગી નીચે દેવ બાપ પડ્યો એનો બચ્ચા એમી એમ જ રહી મેં પડે મેં એક जी बैकुंठ फिर बांध ले लिया अपना हेर हाथ में ले बस बैकुंठ पर माता पर हाथ में जो है अरे भारत जी अटो बहुत सटी जिस टाइम छड़ते की भी जना नींद होतो छः महीने नींद के महीने नींद में होतो जना बस जोग में कियो लाल दिशा तो होता विराट किले बेटी है तो सवाई भोज गने अटो लेर गया था रानी जना राणा साहब दाम सीढ़ियो हो जाने ना कियो अषाढ़ा महीना चाला चालिया हाँ चेत के महीने चाला चालिया बरसा बरसाढ़ा आया अषाढ़ चार महीना चेत बैसाख जेठ अषाढ़ चार महीनों रे राणा साहब समान गड़ो यो भोजन को चार में बड़ा वेगा दो महीना महादेव डाल लिया छह महीना वेगा हाथों में नहीं आगे पुगी हो जा दो महीना महादेव जग लियो देखो महादेव हंगो पांग जगह हंगो पांग सूर में जोग में बाजार आण राज पीछे कि वो देखो माने जानता है पारवता जहाँ ती कोई तो झगड़ो मत करी नो थिरे पे और महादेव को वचन ले रहा जोग है विराट किले पाँच हजार बेटी और तीन रूप है जोग एक तो महादेव उनकी और एक सवाई और एक हजार जगह अभी जो है तीन रूप आएगा बट जार अबे जो निया दिन जगया आए कि वो लाज निंदा मगाई होता बूटो भी नहीं जना जो ऊँची को नहीं होई को नहीं संगी महीने क्यों मैं नहीं उठो जना जोग मैं वो भी वैर कियो है पोजा दाग जो बाग जी का शोरवा सुनो मुका गेरा समचार फोजा आवे नीम दे प्रियार की हेवे हाक पर हाक है फौजा दागो बाग जी का शोरवा ओ बढ़ जाए बिने थम टूट आकाश क्यों बिने थम आकाश टूट हंगाते ते बढ़ जाए फोजा हाका पर आको है ज्ञानियों जी की फौजा आन दे राणा राव की में फौजा आन दे राणा राव की वेण दे हाक पर हाक पगों डाब ले माता धरती ने तूर तो डाब ले हाथ से आकाश क्यों माता पर आकाश डाब ले पग धरती डी की धरती डाब ले थारे का भी पंचायत तो नीचे उतर गया जना उतरी कौन जोग में जते जो नेकाड़ घाणी छापड़ की नियो जो होता था नेकाड़ हाँ नेतू ने नेतुन खा पर नेतु देखियो के कंसा होता है ने कियो गान ने मारा मेल के मैंने के उर्दू जान जानदर यार बेच जावे मारे नहीं जगा देवेला हम्म। आगे हो जन मेला मूर्ति दिखी के हम्म। बावटू तो है जो नाटी ठीक है अच्छा। तो राजू उतता पानी खिनो हम्म। कियो के जको मारा मेल में तू कहने भरी है आकुन कियो जोग में जा नेगड़ ने कियो कियो मारा मेल में तू कहने आई है तू जो गिर करवाई है कहीं मारा पतिदेव नींद कहने जगावे जोग में कियो अल्लाह वाला आने जी उतर गई नेसी उतर पद जोग माया घिवी कुन कने अब सवाई भोजगी माखने ने कर निया जी की माँ कने घिवी लिख माते राठौर कने हम्म। राठौर राजपूत हा राठौर गुना निया जी की माँ को सवाई भोज की माँ को ना हो इस जात राठौर राजपूत हा हम्म। बेका कौन राय दो नहीं सवाई भोज लिख माते ना हो जात की राठौर हा राठौर राजपूत हा तो भारत में आवे भारत भारत में भारत तो। हाँ, तो के मीन आए हाँ वो भारत आगे है हम्म। जरा जना है जो अलू बटो आ घी कन कन घी बी कन घी बी सासू बने लिख दे कने हम्म। लिख माते ने जार घी है सासू जी हम्म। <laughs> पेड़िया नहीं है नहीं आवे थका बेटा की सोन मोसड़ी है खुंटिया नहीं है केलू की लाल कवान फौजा आइए नीम दे पिड़ियार की वो घियो बरो दे भागरा ने पर्वत पोट क्यों फौजा आइए नीम दे पिड़ियार की जो वो काशा का गुड़पान हो गया नागो वो तो जी कौन फौजा ने छोड़ दे क्यों है ये आवाज और क्यों है उन और वाजोग में आगे लिख मान देने के भोजा आयो परण्या शाम की है गी तोबा छूट है थागा नी आजीगा होता का गया है प्राण छूट जेड़े लिख मान राठौड़ कियो एन कहन बोले वाला भेजनी कियो बोलूं गायो सासू जी आपको जो बेटो होतो जो होता को प्राण छोड़ गो कियो कहन गए छोड़ गो मारो बेटो दे जो छह महीने नींद में होतो है देखो नहीं जरा क्यों सासू दिन तीन हुआ माचा बड़ी बड़ी बात बाकी हो गए जोग में की हो जहाँ बेजा रेस आएगी तो रोप के महीने लिख माते के थाना में दूध आएगा हम्म। और दो तो थान थान भरेगा दो तो, तो जरा बस बाकी और थम्बो तो होबो है और थम्बा जितना में थम्बो होबो है थम्बा में धार देवी है थम्बा का छेकलो छेकलो होगा दूध हम्म। जरा क्यों मारा दूध से वो थम्बो फूट गो धरती ने छाक दो तो पियाड़ छिक जावे और सूरजी पिचम धरा में हो जावे दुनिया का प्राण छूट जावे हाँ। इतने बना है मारा हाँ। बेटा फिर आन सुटे गए ये तो शोरबीर से भी दूध हो ओ तो फिर सुना था रहा आगे आई हो तो देखो हम्म। फिर मैंने हाँ। ये दादाजी रान क्यों कह हम्म। दादाजी आन तो बजाव बाग जी दादाजी है हाँ। कोई दादा के आन जावे कोई सवाई बोल के जावे हमार को मैंने गावे जो सवाई बोल गई आन हम्म। मैं कैसे के राज कुमार द्रवा कने महादेव राज कैसे राज कुमार कैसे राज कुमार सवाई बोल गई है आज अपने अपनी भाषा है हाँ, जो बोले जी तो ठीक है तेईस ने सती हुई है अब है देखो एक हजार तीस बार या बराबर निया जी की एन बेसा की पुण्य दिन जीव निकलियो है हेंदे बेकुट लेगी जोग में हेंदे बेकुट लेर की है भगवान को बयान आयो है हेंदे बेकुट लेर की हो दीप कुमार भाई ने अबे भगवान को अवतार हुए हाडी हाथ में ना बचे अब देव की कथा साल हुए हाँ। देवनारायण सुनो ना नहीं कर दे और काम करा आराम वो देवनारायण कथा थोड़ी एड़ी अति मोटी है देवनारायण कथा ये देखिए कौन पर चालू कर दे ठीक है नारायण लिया मिंदर बटू जार नारायण बदार चालू देव की कथा कर नारियल अगरबत्तियां फोड़ो ये अगरबत्तियां फोड़ो मांगने नहीं क्यों अगरबत्तियां मंगा ली नारियल मंगा ले अगरबत्ती मंगा ले और बस और कुछ नहीं नारियल अगरबत्ती हां बस पर आदि ही जाकर छोड़ियां बाहर छोड़ी मंगाना है मतलब खेती कर माटी कड़म कोनी एंत कुमार मोगड़ा पजे कुमार कटे कोनी पूजे ए हम्म। तो बाल धने रे है धने रे वो बूमले रे बाल धने रे वहाँ लांबे चौनी है और तो कुमारा पूजा ही कोन कटे ऐन तो घर गांव मोगला हाँ, है कुमारा का पर कटे माने थे कोने पूजा हाँ है कि जकांग है जकांग ठहरता बाई ठे जकांग देव पकड़ दिया जकांग है भाई हम्म। नहीं पकड़ी पूजा जकांग कहेंगे कि मान्यता कहीं कोने बा पूजा पकड़ ली जकांग मान्यता है मारो घर को बाहर अटे मैं तो मारी उम्र में ही कौन देखी नहीं देखियो आयो ही कोनी देखियो तो नागौर का वे के नागौर दिलो है देखियो और तो दो बार तो आएगो याद नहीं आवे सब देखियो नहीं देखियो दो बार तो आएगो आयो एक आर एक रा बताओ के बोला था का या आर गियो तो काशा दिन आ तो मैं तो तो टाबर आवे माका बाहर ने चीज की ध्यान सवाल वो वो तो बता जो भाई के माँ लेन देन પણ એ ચીજ અહીં બહાર ને ગાંઠ हाँ वे तो क्या आप मतलब पिताजी भी परमार्थ करता का हाँ मार दादो जी करता दादो जी करता आपने घर में कद आई मारा घर के मैंने घर रचे उन दिन घर रचे एक दिन आयोड़ी अच्छा पहले कच्चो था नवा देव गया पूजा दा के आई घर आए दी तो हो रहा है ही जना पूजा दा के आई भाई हो हाँ मैं भाई हैं और माऊ एक छोटो देखो कहूँ छोटो है पांच भाई हैं एक बहन है पाँच गाँव में चार गाँव है एक गाँव ब्याह खेलो बड़ा लिए वाह और भाई रहे थे नागर जगह हम्म। गाँव हाँ गोजरांग गोजरांग थे तो- तो इस गोजरांग तो बस गोजर तो कौन नहीं हो पर यार रावता में भी घणी मान्यता है रावता में कौन होने श्रम में काइंड ऑफ वेला एक रावत रावत ने बारण ने भीम और टोडा ने जो है हां सर हाँ, आठ हां यहां में रावता में बहुत माने हां माने जगह दे वैसा हाँ, जो सोजत के महीने सोजत रोड के महीने नाथ पड़े भाजे देव जी सोजत रोड में नाथ है हाँ, सका सोजत नाथ है और अपन चोकलार मैंने एक तो हम्म। दिया काम में लंबा मैन चमन तो आई समझो एक सोजत के महीने एक मेरा नाम मैं नहीं है गुजर गुजरे पण बा गाली है जमे हो जमे हो बे गाल वो दूसरी गालियों बोले बे गाली वो टाइप की है बा गाली हाँ हाँ परबसन बा बटे हेड़ो मेरा नाम वही परबसारे वो कणी नाल भोपो है बस गुजर कणी नाल वो परबसारे हेड़ी कणी दियो पर बस मेरा ना रेवे भोपो तो वो कहवा दी बात हाजी परबसारे रेवे वो भी के तलाश करते करते पहुंचा वहाँ भाई आसिन बदनौर वहाँ मिलने चाहिए वो अपन फिर वहाँ तो तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया तो उसका मुझको नमूना सुना नमूना सुन के मैंने कहा भाई ये मेवाड़ का नहीं है तो उस एरिया का नहीं है आया हुआ होगा इधर तो कहते भाई इसका मेवाड़ है, इसका कलकत्ता कलकत्ता तो ये कलकत्ता में मेवाड़ बना પરબેસર મેવાડ में કોની હા પરબેસ તો ટેરી માં પરબેસ તો જાઓ આપણે મેળો ભરી જાય अभी माने वो जंतर बजा और तरीको एड़ो जैसे सिर्फ एक तार ने तुम तुम कर दी हां एक तार एक तार है ना हां वो वो परबशाला एक तार बजा कौन महादेव कौन कौन अटू ये मन थाया महादेव का कीड़ा है शेष जी रे दारू छाग जीवदारो वो सरब देवता ने खपाया और कोई नहीं खपाया वो उन वादा आएगा महादेव का बारह साल का दिन नहीं महादेव बारह साल भसन निकल को महादेव मुंडा उन दिन सेवा करी सेवाई बहुत बारह साल हाँ देखियो बारह साल के थाने माया बारह साल के शेष नाग जो है वो भी चौहान वंशी है ये चौहान वंशी है देखो बजे क्यों मैं चौहान वन चौहान रसु को हम्म। भगवान पूछो बजे क्यों तू मारी बेकूट है भाई तू ही खाएगो है तो क्यों अंदर था मैं क्या खाऊं बे छुआन मैं छुआन जात को तो छुआन छुआन में खावा कौन तो भगवान बिड़लो झेलियो क्यों जा हजू मैं खपा दिया बस बिड़लो फेंक्यो जी जो बस आज गजानन जी क्या गजानन जी पकड़ा तैतीस करोड़ दे दे तो बिड़लो लेर पकड़ा था और उतर गया और सब ने बस ने बस में घर कर हाँ। बदनौर में इन बिठान दिए और बैठा ने पर जान बात बैंकुट में भी बारा आपने देवता नहीं जोड़ा एक दूसरी बात और समझ में नहीं बैठे हां के हरि सिंह जी हां और लीला सेवड़ी ब्राह्मण हां पछे बाग जी हां बाग जी पछे बारा रानी हां तो हाँ बारह अलग अलग जाता नहीं हाँ, हाँ हाँ सब बारह हाँ बारह जो वे गुजर की करके लाया है गुजर क्यों के लाया गुजर क्यों के है ना नहीं ए गुजरा में का क्या कौन भाई भाई राजपूता में थोड़ा गुजरा में जा गुजरी ही ला एक तो है मैं बिरानी ही हो एक तो बिरानी एक तो बाग तो जी रही इंगे तेजाजी की माँ हाँ, तेजाजी माँ एक तो बिरानी बाकी सब जाता नहीं तो, एक ही राजपूत ने सवाई बोल हैं जी हाँ। सवाई लिख मत राठौड़ का सवाई बोल नियो जी राठौड़ राजपूत हाँ। राठौड़ राजपूत दस ही महीने गुजरिया तो गुजरिया में ब्याह करने के बाद में गुजर क्यों करो गया है? मैं अभी ब्याह कर तो क्यों करो जी लड़का और छोरी तो पढ़ रहा पिता कौन हो बेगो पिता पिता कौन है पिता कौन हो बेगो पिता छवान जी सवान होनी राज बे कहीं बे एन थोड़ा जल्दी में गर्भवास में जल्दी में बे तो जेन हो घड़ूलो पैदा यो को हो जेन हवापोर में जलम चोइसी भया योड़ो है हवापोर में जलम वो तो तपस्या करनो यो भगवान ने देनो बचे एक जा करना भगवान ने चोइसा ने तो गुजर क्यों करोगे हां गुजर एन व्यसा है गुजर में महीने पनीज नु गुजर वेगा पनीज नु हां पनीज नु या गुजर नहीं है एन गुजरा में मान्यता आवेगी मतलब ગુજર નહીં આયા ગુજર નહીં હૈયા શા ગુજર નહીં હૈયા ગોધરામાં માન્યતા વેગી હેગી આ સાડુ માતા હી નહીં साडू માતા સાડુ ખટાણી ખટાણી જાત કી ગુજરની गुजरनी तो इन काई नियम धर्म हाँ। के रोज को हवा मन मोती अण बिजा मोती है जो आपको हिंदाना पड़ा करिया बाद में सुबह उठती है जो को मगता बिकार ने साधु सतने आया ने ज्ञा ने बाण दे तीर बारह मन है जो को बाजरी को घुमा को जुआर को सूरमा जो बे मगता बिकार ने बाण देनी ಹವಾಮನ ತೊಗೊಂಡು तो ಬೀಜ ಮೊತ್ತಿ ಎರ್ಬಲಮ್ಮನ ದಾನ को सूरम रोज दिन अभी गपो ने मरपस आप हिंदाणा पाड़ कर भगवान को धूप घेर पस आप अंदर पानी करे ऐन करता करता करता कई दिन कई बर बतीत वेगा बर बतीत वेगा तो भगवान को सिंहासन है जो हल्यो क्यों भगत आपो ऊंचो निकल कर आप अजोजा राजकोष ले गए इको शत पड़ी गए जन उठू भगवान साधु का बे कमई ने जो को गोटा मुतरिया की खातर साढ़ू माता सतरावणी खाता है जने उठे भगवान उठे करती हाँ हाँ बस जी हालत में हो जी हालत में मैं तो आपकी बेटी हूँ बेटी आपसे हाँ आ उठू भगवान साधुआ भेग में उतरिया उतरिया दिन तो आपको तो बारह मन सूर में बांट दियो और अनबीजा मोती बांट दिया नहीं बात पूछूंगा हाँ. कि तू जी बाहर ब्याह भी हो गुजरा हाँ. मतलब या तो बीसल दे जी या कौन अजमेर रहा हाँ बिशल देवी जो गुजरा में कहवायो कि भाई यार ब्याह कर हाँ, कहेवायो पुष्करम पंचायत ना की बूढ़े सब बूढ़ा पुष्करम पंचायत नागर सब गुजरे ने भेड़ा करिया ભેલા કર્યા भेड़ा करिया था ना गुजरे जो को કે યાર કોઈ ખાવા પીવાને થાય કોને કોણ કરે બ્યાહ ને યાર કને કઈ હે નહીં કઈ. પછી सब कुछ तो गाया दीन कुछ भैंसा दीन हाँ. कुछ दिया देन પછી એને બસાયા बस है न बस है यार आपने सब हिस्ट्री याद है बस कहीं नहीं, बता म- तो मन तो याद नहीं याद रे सवाल नहीं है मैं जानना ये चाहूँ हाँ। के कि ગુજર अब जैसे ना आप आज की व्यवस्था समझो हाँ, जब मैं मान लो उस वाल हाँ, आज आज की तारीख में मैं उस वाल उन मारो ब्याह मान लो के कि ब्राह्मणी में भेजा तो ब्राह्मण ब्याह भी क्यों मारो तो अब मारा टावर जो है वे टावर उस वाल में तो ब्याह वह को नहीं मार वे एक दूसरी जात बन गए तरीके हम समझ वाली कोशिश करा कि ये मतलब गुजर मतलब मनीज की कर गया ए मैं आपने बताऊं वजह हाँ, तो बहु बहु मनीज गया हां बहु मनीज का अच्छा बहु मनीज गया जब कहीं आपाने रिवाज रहे एक बात तो बहु मनीज का हम्म। आठ नु पकड़ाओ दा ने बहु मनीज का हम्म। यार लारे भगवान उन टाइम में साधु बेकर आया जना साडू माता खट्टाने तो वो आगो सूर में बाढ़ दियो और हवामन बयान में जे मोती बाढ़ दिया आपकी नवा दोमना करे बिस्तरी हिणी भगवान जार डोडिया में लग जगह कियो माथा भिक्षे गाल भिक्षे गाल जना जो साडो माथा हिंदान करती दर्शन कियो क्यों भाई दर्शिया के साधु रेगो था नहीं तो क्यों न साधु संत ने होद ले जो भूको तीसियो रेगो गए मैं आप बार अंजल पानी ले लेती तो मारो भचन खडन भेजा तो गए जो को ए अणबीजा मोतिया को थाल पर साधु ने भिक्षा गालो गए जन बे दर्शिया भिक्षा ले रहे था इंदिरे थाल पर लेर गिवी जीवी दिन भगवान आतुरी नटका क्यों भाई थे कौन हो ये क्यों बाप जी मैं तो दैशिया आ गए क्यों दैशिया हाथ का मैं नहीं लू के जना के था थाकी बाइशा है घर की धिराणी बा भिक्षा ले रहा है अबार उपी है जैन की जैन आवे जना उन टाइम में भिक्षा ले उन्दी शर्ट माता नहीं थांगे बाइशा शराब देर जाऊंगे आ कड़ी दार पास हो दैशिया साडु माता ने कियो जना साडु माता जो कियो भाई गए साधु लोग बड़ो महात्मा है जना तेन को जो पानी झलियो है गए जो को मागा पेट में तो एड़े है आगे कहीं बिस्तर हाथ ले रहे हैं अरे जावा तो बिस्तर हाथ ले जाओ ने एड़े जावा जो को साधु हाथ पकड़ लियो तो आप लोग सालों का नहीं गए जन बोदा शेण हाथ मुँह थाल आप अबे जो हमें भगवान के बीर भी बीर भी दिन कृष्ण भगवान की तो बा छुड़ता पड़ता दे लागे माता में बाढ़ छुटिया तो गिरे था बाढ़ आएगा साधु माता बाढ़ आता है जो भगवान देगी और सतुंदी जोर की हजैन की हजैन आएगी जन भगवान का मुंडा में छोड़ के मांग माता माता कहीं नहीं आएगी भगवान क्यों मांग माता जन बा साडू माता कियो क्यों बाप जी मांगूंगा गयो एक वचन मांगूंगे क्यों थारा मारा बेच राम राम धर्म साडू माता तू जो को मांगे सो मिलेगे हाँ मांगे सो मिले जन है जो आप माता ना लवण साडू माता कियो क्यों बाप जी गए ग्यारह में तू तो छोटी हाँ ग्यारह में तू तो बड्डी बारह में तो छोटी माता कहे संसार में कोई को नहीं मिल जो जो को आप खुदो खुद है जो को गए જણા સાડુ માતા તો બે કેસાણી ઝોલિયા માંડી એનમાં ઝોલિયા માંડી તેને ભગવાન મુના બે નારાયણ ભસન નીકળગો क्यों माते श्री के तू झोलिया मांडी है तो सारे झोलिया हाँ मांगे पेट का हाथ लगाए लेती तो थारे जो गर्भ उतार बेता थारे उतार थारे पेट आता के पर झोलिया मांडी तो थारे झोलिया हाँ मार की डोंगरी के महीने जो माँ का महीना में पग साधनो सट थावर उड़ो बाहर उन दिन कमल का फूल में मारो उतार है वे लो एर थारा जो सो के महीने कुंकुआ पगलिया मंडेला एर सुल्ला हमा तो दूध है तो ऊपर तो डब जावेलो थारा गडगा तीन कांगरा टूट पड़ जावेला एर सट को बाहर आ जावेलो शनिवार आ जावेले साधन पक आ जावेलो माँ का महीना उन दिन मारो जो कमल का फूल में उतार जावल तुम ना हमार लीजिए मारो नाम देव जो देव नारायण पढ़ा दीजिए एन को बसन देर देव आर धारे भगवान सुपासा कीपरा जना पकड़ो उस काम आया का बाद में जो संग ಆ ಭಾರತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಭಗವಾನ್ ಲಾರ ಅವತಾರ ಹಾಡಿ ಹಾತ್ ಮಿಂದ ರಡಿ ಅವತಾರ ಲಿಯೋ ಭಗವಾನ್ ಅವತಾರ ಯೋಧನ ಬಾ ಗುಜರನಿ ಬದೆ षड माता एर षड माता धड़ियो सवाई बो राजपूत जना आ है जो आ गुजरा में उठू पूजा बढ़ गई क्यों के देव नारायण जो गुजरा घर में उतार ले लियो क्यों भगवान आपने घर उतार तो गुजर हो पे बगरात भी तो गुजर का नहीं बाकी शेख की सुना दी लंबी कहानी हां हाँ। हाँ। ना आई मीन ही वो तो क्वेश्चन का जवाब थोड़ा ही हुआ ये जो आपने पूछा they, they, they won't understand the sociological problem. But he is saying ये बात ठीक है हाँ, तो देवनारायण की जस्टिफाई कर सकते हैं ना हाँ तो पूजा तो देवनारायण की है हाँ देवनारायण की बट गुजर को भी कह रहे हैं ना तो लगातार गुजर कह रहे हैं सबको हाँ, तो- किसको अब क्या है जी और हाँ, नहीं नहीं मैंने कोई गुजर नहीं कह रहा मैं तो कोई भोपाल हूँ नहीं कोई आप लोग बड़गुजर जो हैं ये बड़गुजर इधर जो रेवाड़ी का इधर का जो ऊपर का इलाज जो अहिरवाटी है अहिरवाटी के इलाके के बड़े इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हुए लोग हम्म। उस पीरियड के Eight, that's 1931. के के बनेल तिनीहरू एक चित्रमा बनेको नारी ये भाई नारी में जोग में एक नगा जाओ बस और में बाहर जो और सब नाम तो मिले तो कोई जगह नहीं कोई हैं कौन सा बताया थे और नारी और बन और जगह हाँ, जोग में नारी तोड़ना हेटे ये नारी अटकी के बैठी नारी में ले रहा दे नारी बन जाएगी हेटे हाथी के আচ্ছা রাতে বের গিয়ে সাড়ে চার পাঁচ হয়েছে কোথায় অসময় বলবো আপনি ये भी नहीं है तो है और तो आदमी में और और अल्लाह से दूर भी नहीं है मुर्ग भी नहीं है और सब है और पांच का कौन है देखिए हाँ एक और कौन है सूरज केशवारी है सूरज केशवारी मुंडा पांच है पांच तो कोनी है पांच मुंडा है एक पांच मुंडा है पांच मुंडा बोल हां ये मेरा एक फर्क है अब आदो जन पर रहेगी शान की मगर चित्रा इधर ही चित्रा पड़े कोने शान सोतलाम में हिंदुस्तान में कोने सोतलाम गए बार बार तेरे हाथ पड़ा हुआ आज इधर आगे खड़े चप्पल उस पर कौन बैठे ओपरा सूरज केशवारी बोल अच्छा चंद्रमा और है धनसी राम है उसका नाम हाँ तो तो तो वो छिड़की बोल ही दिया फौज फौज की जो अब देखो आईना की फोटो ये जो धनसी अमेरिकन है फोटो दे आईना फोटो दे तो फोटो नहीं हम्म, तो धनसी राम नाम हो गया नहीं सर हाँ बयार दिखा वो आ खटना हाँ, एक देव बाबा नाम लिखे लिखी चित्रा चित्रांकी ना हाँ, लिखी वाली हम्म। देखियो लिखेंगे अठारह को मैं मैं खुदने कावड़ का किसी कावड़ बस आर उठिन थोड़ी है चलो अटिन है कावड़ था कटे आर दो ये महाराज का लहर क्यों लगी आर सर जी वो आपने श्रवण और सुंदर है और श्रवणदार नीर जी को तुम भी और अटिन राजा दशरथ भगवान ठोकी दशरथ राजा संपलाय डाल मातो सर्जन डाल सर्वण दर्शन डाल औठेला ये काही पण मी पण थांबे बरोबर मात पिता और काही काही नाही और दर्शन है देखो और देख लेंगे मैं बटी देख लेंगे पर हम जाएंगे बिगड़ी और तो देख ले तो और और और घोड़ी दो ही मुंडा को नहीं के दो ही मुंडा है मुंडा दो जगह होना है वो जितना लिख दे देंगे किसा दो मुंडा की घोड़ी तो एक तो 1 2 में और ये दो ही 1 2 में आएंगे लवण गोड़ी है आप इसमें और श्रवण है जो देव में जो में हाँ बिल्कुल देवी बहुत अच्छी बनाई इन चित्र कितना सोना है हुँ? वो जो वो है वो तो उसका रस है बत्तीस लिए बत्तीस लिए बत्तीस होनी बत्तीस दिनों का आगोना सीरियम जोड़ी का बल्ले चलो दिनों का आला बत्तीस हो जाए इधर आल पड़ जाए Ogni? Kicsit? Kimmad végvégyesre? Gönagam bárgyal gondolom. Á, ogni díjra. Kod video agrad jövőre mondani. Nem jó, foglalk gondolom. Á, á. ओ बताओ बताओ और बड़ा चित्रा में चित्रा बस बड़ा मुंडा बड़ा गुजरा बताओ बड़ा बड़ा चित्रा में बड़ा तो लोग ने गुजरा बंद होगा बाकी देखो सर को ना को देखो मजो Foto değil. Yani Birbirimiz bir yana. भारत को देख कितना सोना बारह हजार लंबी घड़ी आना है क्या ना देखो वो टिकट रही है वो भारत बता दो क्या नाम कौन टिकट है और भारत और समझ नहीं आ रही भारत आ सुनो आ कौन भी था रे जो कि आप पिंगी आने आ रही है आ पातो निकल रहा और नौर का बाग मटे मोटा चित्रा में भी मैं आना हूं ना बाग होता है हाँ बना हुआ है दारू देखो हाँ, हाँ, हाँ? और भारत हो रहा है और भारत है ओ और देखो को भारत लो ले लो एक देखो भारत उठे आखारी नदी में बीच और जी है आज है और नाग देवता दारू और मेरे दारू पर दारू मंडी तो मंडी और कालो लो अब धरती आएगी आसमान में और नाग देवता धरती नहीं वो है और बल दबार पर की हो और से ऐसा सर आज आप बूंद दारू या पी और सवाई बहुत भूखे जा रहे हैं मच ओ जी है खा आप जगह खा खा आप आ देव तो की फौज की भी बांगड़ा खा बांगड़ा खा हाँ। कौन नहीं है ये में है गोल है में हाँ। अच्छा।, अच्छा ए ए जका लाल लाल फाट की क्यों करिए का का नहीं जरा चित्राम तो काटिया कारी भर जा नाश होने में पड़ेगा और सिद्धराम ने कटिया को मुंद्रा काट दी हाँ। मुंद्रा काट दी मैं नहीं पढ़ आप ध्यान रखो हाँ। कितनी सोनी पर नवंद्रा काटती बताओ और एक मंड गया ना एक सिद्धराम के ऊपर हाँ। लीलागर का देव नारायण लीला कर और देव को कर बोलो का तो स्वरूप सिद्धराम जी लीला कर देखो मजा है ए ए चारों भी बड़ा अच्छा है चारों भाई है और बांगड़ा खान किसे है ओ बांगड़ा खान है ओए ओए मदन सिंह जी आ गए और यार कन लेगो है हाँ, और यो कोई कोई फर्क पड़े बांग्ला का है फर्क है बेस को फर्क है ये बेस में फर्क है बेस ज्यादा लोग है बेस को फर्क है निद्रा में बोल की दे ए बे बे कालू हां ए वे बटाण बटाण लंबी घड़ी हो ये बात तो तुमने मुंह में बोला दे ए बे कैसे ना है વાસણ પછી ગજબ ગેડી વાસણ बीवी बच्चे बच्चे चौबीस चौबीस घोड़ा जोड़ा घेवड़ी है तो में जोड़ा घेवड़ी बोले तो बोले कि बीवी बच्चे घोड़ा की जोड़ा है हाँ बीवी बीवी घोड़ा की बच्ची घोड़ा की बड़बाग में बैठा चौबीस भैया की पूरी जोड़ घेवड़ी है चौबीस में मोटा जितना बीवी में चौबीस जोड़ा कौन है अब भी दाना तो बदनोर है ए हाँ। तो, तो आप गोर भाई जोड़ी छेड़ सो सौ की लाग लगा उसके बड़ी मान ली हाँ वही मान ली हाँ। थोड़ी लाग ಆ ಗುಲಾಲು ಗುಲಾಲು ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಗುಲಾಲ್ ಧ್ವನಿಗಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಕಾಟಿ ಹೌದೇವು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡೇವು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡಬ್ಬ ಬಂದ ಡಬ್ಬ